मृत्यु मिलन है उनके लिए जिन्होंने जीवन को जाना मृत्यु उनके लिए परम सौभाग्य है मृत्यु की घड़ी ही उनके लिए मिलन की घड़ी है कह कबीर हम ब्याही चले मृत्यु उनके लिए मृत्यु नहीं विवाह है